त्र्यंबकम जामहे से ईश्वर की स्तुति प्रार्थना करें आपके समक्ष आगे की योजना हम किस प्रकार से सोचें बनाएं हमको क्या करना चाहिए व्यक्ति के जीवन में करने कराने की भावना अधिक प्रबल होनी चाहिए किसी भी उत्तम काम को करने के लिए अनेक साधन होते हैं उनमें एक है संकल्प प्रतिज्ञा व्रत यह निश्चित बात है कि जो व्यक्ति व्रती नहीं है व्रतों को धारण नहीं करता अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रतिज्ञाबद्ध होकर नहीं चलता वह व्यक्ति सफल नहीं होता वैदिक परंपरा में विशुद्ध रूप व्रतों का संकल्पों का जो है वेदों में दर्शनों में ऋषियों ने अपने ग्रंथों में प्रतिपादित किया ये जो आपके समक्ष वेद मंत्र है इस मंत्र में व्रत के विषय में बात विशेष कही गई जैसे अग्नि व्रत पते व्रतमचरी श्यामी तक्षकेयम तनये राज्य धाम इदम हम अमृता सत्यम उपय इस मंत्र के शब्द भी अधिक कठिन नहीं और प्रायः इस मंत्र की व्याख्या सुनते रहने से भी वो शब्द जो है कठिन प्रतीत नहीं होते हम थोड़ी सी संस्कृत जानने वाले सीधा वेद मंत्र से अर्थ को समझ सकते हैं अग्नि शब्द का संबोधन में अग्नि बनता है अग्नि शब्द के रूप चलाते हैं अग्नि अग्नि अग्नय तो अग्नि संबोधन में अग्नि शब्द जो है बनेगा अग्नि हे अग्नि प्रकरणानुसार अग्नि शब्द का अर्थ ईश्वर होता है किसी अन्य प्रकरण में चूल्हे की अग्नि भी हो सकता है किसी अन्य प्रकरण में विद्वान को भी अग्नि कहते हैं इस प्रकार से प्रकरणानुसार अग्नि शब्द का अर्थ उस उस रूप में होता है यहां अग्नि शब्द का अर्थ ईश्वर है ऋषियों ने अग्नि शब्द की व्याख्या वैसे तो लंबी चौड़ी की है एक बात याद रखनी अग्नि अग्रणी भवती अग्रणी जो होता है सबसे आगे चलने वाला जो होता है वो अग्नि है सृष्टि की आदि में सबसे आगे मार्ग दिखाने वाला चलने वाला चलाने वाला सबसे आगे रहने वाला ईश्वर है इसलिए ईश्वर का नाम अग्नि है अग्नि जैसे प्रकाश करती है हमको अंधकार से बचा के मार्ग दिखलाती है इसी प्रकार से परमात्मा अज्ञान को हटा हमको ज्ञान देता है इसलिए अग्नि संबोधन में हे प्रकाश स्वरूप ईश्वर है व्रत बचे व्रत शब्द का प्रयोग बहुत होता है में से कभी व्रत लेने वाली माताएं हैं कुछ मतलब एकादशी का व्रत है या संतोषी माँ का व्रत है हाँ। बहुत व्रतों के विषय में लोगों को सिखाया जाता है तो अशुद्ध परंपरा वहां पर चली तो व्रत शब्द का जो प्रयोग यहां पर है वैसे मोटी सी बात है व्रत का अर्थ है बर्ताव करना अब यहां पर जो व्रत शब्द है उसमें क्या लेना चाहिए जो असत्य आचरण है उसको छोड़ देना और जो सत्य आचरण है उसके ऊपर आरूप हो जाना संकल्प करना प्रतिज्ञा करना कि मैं आज से ये निश्चित अपना नियम बनाता हूं कि सदा सत्य ही मानूंगा बोलूंगा और करूंगा और असत्य को छोड़ दूंगा न मानूंगा न बोलूंगा न करूंगा सत्य शब्द बहुत व्यापक है सत्य शब्द कहते ही सारा धर्म समुदाय सब आ जाता सत्य कहिए धर्म कहिए अथवा उसको आप जो है न्याय कहिए सत्य धर्म न्याय इसका उल्टा असत्य अधर्म अन्याय तो इससे सबका ग्रहण हो जाता है तो सत्य शब्द से सब सत्य आचरण का ग्रहण होता है तो समझना कि सत्य ही मानना सत्य ही बोलना सत्य ही शरीर से कर्म करना असत्य न मानना असत्य न बोलना असत्य न करना ये सब व्रत शब्द के अंतर्गत आ जाता है और व्रतपति व्रतों के पालन करने वाले अथवा व्रतों के स्वामी ईश्वर व्रती है अनादिकाल से प्रति है अर्थात अनादिकाल से सत्य ही जानता है सत्य ही मानता है सत्य ही बोलता है सत्य ही करता है कभी भी अन्यथा नहीं बोलता इसलिए ईश्वर जो है व्रतों का पालन करने वाला है इसलिए ईश्वर का नाम व्रतपति है और इसमें संबोधन है व्रतपति का बना व्रतपति अग्नि व्रतपति हे प्रकाश स्वरूप परमेश्वर व्रतों के पालन करने वाले आप हैं व्रतम चरिष्यामी ये जीवात्मा बोल रहा है व्रतम चरिष्यामी मैं व्रतों का अनुष्ठान करूंगा पालन करूंगा जीवन में लाऊंगा सके हम्म? तब उसको मैं कर सकू तत् मेरा देता उसको सिद्ध करवाओ और वो वर्त क्या है इदम अहम अंद्रितात सत्यम उपयी क्या बन गया व्रत क्या चीज है वो इदम अहम में इस जी अमृत को छोड़ के सत्य पर आरूढ़ होता हूं ये व्रत है मैं आपसे एक प्रश्न उठाऊं आपको आप व्रत है किसी का जो सदा सत्य बोलेगा झूठ कभी नहीं बोलेगा वो तो हाथ खड़ा करो एक बस दो माताओं में से एक दो तो बस अब देखो अब आपने व्रत लिया ही नहीं अब तक क्या भूल हो गई है जी अच्छा एक बात और है कई लोग तो कहते हैं व्रत ले लिया जाए टूट जाए तो बड़ा दोष लगता है और न लिया जाए और टूटता रहे तो दोष की कोई संभावना नहीं <laughs> कितने लोगों का विचार तो ये रहता है नहीं कई लोग तो यही तर्क देते हैं कि भाई बात ये है हम तो व्रत इसलिए नहीं लेते वो टूट जाता है जब उनसे कहते हैं भाइयों बहनों हां व्रत लो सत्य बोलने का वो कहता देखो स्वामी जी मैं आपके सामने बिल्कुल झूठ नहीं बोलूंगा मैं झूठा नहीं बनना चाहता क्या बात है बस ये लोग तो व्रत ले लेते हैं और तोड़ते हैं मैं लेता ही नहीं मैं इनकी बाकी झूठा नहीं हूं मैं लेता ही नहीं आजाद है वो अच्छा वो तर्क देता है कि भाई जो व्रत लेते हैं उनको तो दोष लगता है और जो नहीं लेते वो निर्दोष है आपके भी दिमाग को छूरी होगी कुछ तो बात है ना हम्म। तो नहीं व्रत लेना वो पक्का करके पक्का निर्णय करके व्रत लेना चाहिए हाँ। नहीं वो निर्णय तो हो गया और व्रत लेंगे व्रत लेते क्यों है क्यों हम तोड़ते हैं तोड़ने के लिए भगवान को नया व्रत लेने की आवश्यकता भगवान कहीं व्रत नहीं लेता अनादिकाल से व्रती है हम तोड़ देते हैं इसलिए हम आरंभ करते हैं कि मैं सत्य बोलूंगा झूठ नहीं बोलूंगा अब भगवान ने कभी झूठ बोला नहीं और कभी झूठ बोलेंगे भी नहीं और कभी सत्य को छोड़ा नहीं और कभी छोड़ेंगे तो नया व्रत लेना भगवान का काम नहीं है अर्थात जो पालन कर ही रहे उसका व्रत लेने का क्या मतलब यह है ऐसा ये जो तर्क उठाते ना आप कि देखो जी पक्का हो जाएगा ना व्रत लेंगे पूरा सत्य बोलने लग जाएंगे उस दिन व्रत लेंगे चले फिर व्रत का दोगे आप तो, तो वो तो ऐसी बना रहे हैं पूरा सत्य बोलने लगे उस दिन व्रत लेंगे अच्छा यदि व्रत नहीं लेंगे तब कभी सत्य बोल बोल ही नहीं सकेंगे आप बोलोगे कैसे परस्पर विरोध है पूरा बोलने लग जाओगे जब आप सत्य का व्रत लोगे बिना सत्य का व्रत लिए बिना कोई व्यक्ति सत्य बोल ही नहीं सकता तो पूरा व्रत का पालन हो ही नहीं सकता तो व्रत आगे लेंगे ही नहीं आप अपने आप खंडित हो गया इसलिए जो हम भूल करते हैं त्रुटियां करते हैं अर्थात सत्य को हमने छोड़ दिया है सत्य छूट गया है असत्य हमारे जीवन में आ गया है इसलिए उसका संकल्प लेके चलते हैं और संकल्प लेके जब चलते हैं तो वो फिर टूट जाता है फिर हम दोहराते हैं फिर लेकर के चलते फिर टूट जाता है फिर प्राश्चित करते हैं फिर टूट जाता है पता नहीं कितनी बार गिरते हैं और कितनी बार उठते हैं तो हम चलते जाते हैं वो कम होता जाता है असत्य जो है वो कम होता जाता है सत्य बढ़ता जाता है ये स्थिति है अब जो इस प्रक्रिया पद्धति के ऊपर आरूढ़ नहीं वो व्यक्ति आगे नहीं बढ़ सकता ये सब बातें बिल्कुल बेतुकी है निराधार है कि ये व्यक्ति अपने आप को इस रूप में देखता है कि व्रत ले लेता हूं तो देखो कल झूठ निकल गया तो लोग मुझे क्या कहेंगे अच्छा अब क्या कहेंगे <laughs> अब व्रत लेने के पीछे तो डरता है लोग मुझे क्या कहेंगे और जनो खूब झूठ बोलता है और अब ये नहीं सोचता लोग मुझे क्या कहेंगे इसका विशेष संबंध ईश्वर से है लोगों से संबंध कम है जिस दिन हमने मनुष्य जन्म लिया मनुष्य शरीर में आए उसी दिन हम मनुष्य धर्म को साथ लेके आए उसी दिन लागू हो गया जन्म लेते ही व्यक्ति के जीवन पर लागू हो जाता है जब वो उल्टा कोई कर्म करेगा जन्म लेने के पीछे तब तक उसको भोगना पड़ेगा और जो अच्छा कर्म करेगा उसका फल भी उसको अवश्य ही मिलेगा इसलिए आप व्रत को दोहराएं न दोहराएं मनुष्य धर्म को बार बार दोहराए अथवा न दोहराएं उसका फल दोनों पक्षों में मिलना है तो इसलिए इससे बच के नहीं जा सकते तो ध्यान देना मंत्र को बोलना है और मंत्र की बातों को याद रखना है अग्नि व्रतपते व्रतम चरिष्यामी के यम तन में राजेताम इदम हम अनृता सत्यम उपयनी परमात्मा को साक्षी मान के व्यक्ति और संबोधित करता है कि आप व्रतों का पालन करने वाले हैं ईश्वर मैं भी व्रतों का आचरण करूंगा व्रतम चरिष्यामी के यम तन मेरा देता उसको मैं कर सकूं उसको सिद्ध करवाऊं इसमें जानने की बात यह है कि हम जो संकल्प लेके चलते हैं सत्य का संकल्प लेके चले अहिंसा का संकल्प लेके चले ब्रह्मचरी का संकल्प लेके चले उस समय ईश्वर की सहायता अत्यंत आवश्यक है ऊंचे स्तर पर कोई भी व्यक्ति न तो सत्य को जान सकता न सत्य का पालन कर सकता बिना ईश्वर की सहायता के ईश्वर की सहायता व्यक्ति को मिलती जाती है और वो आगे बढ़ता जाता है और बढ़ते बढ़ते एक आदर्श स्थिति को प्राप्त कर लेगा इसलिए तन में राधे ताम में ईश्वर से ये मांग की गई है प्रार्थना की गई है उसको सिद्ध करवा दो हम अपने मन को जीतना चाहते हैं मन को भस्म करना चाहते हैं कितना ही जोर लगाएं पर पूर्ण रूपेण ईश्वर की सहायता के बिना मन वशव नहीं आ सकता पर याद रखना ईश्वर जो है सहायता उसी स्थिति में देता है जब व्यक्ति पूर्ण रूपेण परिश्रम करता है ईश्वर की विशिष्ट सहायता मिलती है पूरे परिश्रम करने वाले व्यक्ति को प्रार्थना का समय है पहले परिश्रम करो मेहनत करो खूब परिश्रम करो फिर वो कार्य सिद्ध न हो तो फिर परमात्मा से मांग करो इससे प्रार्थना सफल हो जाती है तो इस रूप में हम संकल्प लेके चले और ये जो बीच में बाधक विचार हैं कुछ मैंने सुनाए व्रत लेने न लेने की उसमें जो व्यक्ति की विचारधाराएं आती हैं सामने वो प्राय उस व्यक्ति के जीवन में रुकावट डालने वाली होती है मनुष्य हैं हम ईश्वर का आदेश हमारे ऊपर लागू है हम उसको दोहराए नहीं दोहराए जब हम संकल्प लेकर चलते हैं तो तत्काल वो बुराई कम हो जाती है कभी देख लेना आप प्रयोग करके देख लीजिए एक मास तक आप पूर्ण रूपेण सत्य बोलने का व्रत लेके चलिए उसे पूर्व मास में महीने में वो जो आपने प्रयोग किए थे जो एक मास में जो झूठ बोला था उससे दूसरे महीने में मास में कम हो जाएगा संकल्प लेते ही व्रत लेते ही वो बुराई कम हो जाती है संकल्प लेते ही वो अच्छाई बढ़ जाती है उसने व्यक्ति ने संकल्प लिया एक मास में एक हजार रुपये अमुक इतने रुपए आदि आदि मैं दान दिया करूंगा वो व्यक्ति संकल्प करने के पश्चात प्रतिमास एक हजार रुपये जो है वो देता है और यदि संकल्प न लेता तो वो देता ही नहीं प्राय नहीं देता देखिए जो संकल्प नहीं करता ना अंदर करता ना सुनाता फिर एक बार सोचेगा कि भाई आज तो विद्यालय को दान देना चाहिए एक हजार है कहीं एक हजार देने से तो फिर मेरा जो है वो काम बिगड़ जाएगा पर तो पांच सौ क्यों नहीं दे रहे <laughs> वो जितना विचार उधर तो कहते पांच सौ में भी थोड़ा सा अधिक ही है थोड़ा सा ढाई सौ कर रहे <laughs> वो ढाई सौ <laughs> आप देखेंगे उस व्यक्ति की प्रवृत्तियां जो है बिना संकल्प के इतने ढीली है इतनी ढीली है एक व्यक्ति ने सुना ही बात आज समय को जब लेंगे ठीक रहेगा ना तो एक दो दिन पिछले वाले इसमें बहुत बातें बताई तो उस व्यक्ति ने सुनाया स्वयं कहने लगा मैंने गुरुकुल के लिए इतना दान संकल्प किया कि मैं इतने इतने इतने इतने पता नहीं कितने हजार थे और मैंने संकल्प कर लिया और कह दिया फिर सोचने लगा कि भाई बात ऐसी है संकल्प कर दिया मैंने घोषणा भी कर दी है तो इसको छह महीने में दें तो इतना ब्याज बचेगा <laughs> तो कह रहा था कि मैंने लोभ के कारण से खेचाता नहीं करी <laughs> कितने लोग ऐसे हैं उसको उधार है उसकी अरे उधार है हाँ वो कहता है कि तो भाई आज देना था कहते कि बैंक में पड़े मेरे तो उन्होंने कहा कि तीन मास के पीछे दे दे इनका ब्याज <laughs> हो थोड़ा सा आप तो नहीं करते ऐसा है जी तो इसमें अंतर देखना कोई अच्छाई करने का संकल्प लेके चलता है अच्छाई का स्तर बढ़ता जाता है व्यक्ति का आचरण उभरता जाता है और बुराई जो है उसको छोड़ने का संकल्प लेके चलता है वो बुराई कम होती चली जाती है ये स्थिति आप देखेंगे कोई भी आप सामने ध्यान से देखो मैं ये संकट लू मैं क्रोध नहीं करूंगा तो वो क्रोध की मात्रा घटती जाएगी और घटते घटते वो व्यक्ति ऐसी स्थिति में चला जाएगा कि बहुत ही प्रेम पूर्वक व्यवहार करने लगेगा व्यक्ति इसलिए संकल्प लेके चलना अब थोड़ा सा ध्यान देना है हमारे क्षेत्र जो है संकल्प के उनकी ओर ध्यान देना व्यक्ति स्वयं को अपने आप को अच्छा मनुष्य बनाए अपने आप को बनाने के विषय में संकल्प लेना स्वयं के विषय में संकल्प लेना कि मेरे व्यक्तिगत जीवन में ये ये अच्छाइयां नहीं है इनको मैं प्राप्त करूंगा मेरे व्यक्तिगत जीवन में ये ये बुराइयां हैं मैं इनको दूर करके छोड़ूंगा व्यक्तिगत संकल्प थोड़े से देखिए प्रतिदिन व्यायाम करता है व्यक्ति प्रतिदिन योगाभ्यास करता है व्यक्ति प्रतिदिन स्वाध्याय करता है व्यक्ति प्रतिदिन सत्संग करता है व्यक्ति व्यक्तिगत सीधा संबंध उसके व्यक्ति के साथ है उन चीजों का वो व्यक्ति अपने को तैयार करने के लिए इनको संकल्प में लेकर चलता है और प्रतिदिन करता इतनी देर तक इतना काम रोज करना स्वाध्याय प्रतिदिन करना व्यायाम प्रतिदिन करना है ईश्वर की उपासना प्रतिदिन करनी है व्यक्तिगत जीवन को उभारने के लिए वो संकल्प लेके चलता है और फिर वो पूरा करता है जब संकल्प ले लेता है तो उसके साथ में चीज और आया करती है भंग होता है कई बार उस को कम करने के लिए व्यक्ति स्वतः दंड लेने लगता है स्वयं दंड लेने लगता है एक ब्रह्मचारी थे उसने व्यायाम का नियम बनाया और कहा कि जिस दिन मैं व्यायाम नहीं करूंगा उस दिन भोजन नहीं करूंगा जब ऐसी स्थिति आती भाग दौड़ की आती तो वो भाग भाग के व्यायाम करते नहीं व्यायाम करें तो भोजन बंद कोई भी आप लागू करो अपने ऊपर अपने से समझौते करना समझौता करने वाला व्यक्ति अच्छा नहीं बनता याद रखना अपने दोष से अपने झूठ से अपने छल कपट से अपने अज्ञान से अपनी बुराई से संधि समझौता करने वाला व्यक्ति कभी भी अच्छा व्यक्ति नहीं बनता याद रखना सबसे पहले अपनी बुराई से टकराना पड़ता है अब एक व्यक्ति से इनमें जाके आप चुप क्यों नहीं रहते क्यों बोलते हो इतना वो कहते हैं मैं बोलता हूं और ये लोग सोते रहे आधा आधा घंटा मैंने कहा भले व्यक्ति ये सोते हैं इनकी चर्चा नहीं है अपने ऊपर देखो मैं जो कर रहा हूं उसको तो रोक नहीं रहे दूसरों को दोष ठहराने के लिए दोषी ठहराने के लिए व्यक्ति कहना आरंभ कर देता ये व्यक्ति की भावनाएं जो है उसकी उल्टी है जब भी उसके व्यक्तिगत बात ऊपर आती है वो दूसरे की ओर देखना आरंभ कर देता व्यक्ति को सोचना कैसे चाहिए जब उसके सामने ये बात आए कि मुझ में ये दोष बताया जा रहा है बस तत्काल वो उसको स्वीकार करे और आगे के लिए न होने देने के लिए तैयार न होने देवे ऐसा प्रयास करे ये इसका काम है ये अच्छा नहीं है कि उसके दोष को कोई बताने लगे और वो संसार के दूसरे लोगों को देखना दोषों को देखना आरंभ कर दे ये पद्धति ठीक नहीं गलत है ऋषि ने कहा सत्य के ग्रहण करने और असत्य के छोड़ने में सदा उचित रहना चाहिए ये व्यक्ति के व्यक्तित्व को उभारने वाला सिद्धांत है महान है व्यक्ति के निर्माण में ये निश्चित रूप मूल है आधार है जो व्यक्ति सत्य के ग्रहण करने या सत्य के छोड़ने में उद्यत है वो महान है कह देना सरल है सर्वथा सर्वदा सबके बीच में कहीं तो किया आप उसको जब असत्य सिद्ध होता है तो वह कभी ननुनच नहीं करता हां बिल्कुल ठीक है स्वीकार है बचने की बात यदि व्यक्ति सोचता है तो समझ लेना यह व्यक्ति विशुद्ध व्यक्ति नहीं बन पाएगा अंत स्थिति बताती है कि हम बचना तो नहीं चाहता ध्यान देना मैं अपनी बुराई जो आई है सामने उसको इधर उधर तो नहीं करना चाहता दबाना तो नहीं चाहता व्यक्ति स्वतः आत्मा से देखता है हां मैं कोशिश दबाने की कर रहा हूं और अपना ही भयंकर विरोध करता है वह नहीं होने दूंगा अपनी बुराई को मानसिक बुराई को व्यक्ति उखाड़ के फेंकता है और कहता है इसके लिए जगह नहीं मिलेगी सीधा युद्ध है उसका अपने साथ अपनी बुराई से इतना भयंकर युद्ध है इतना बाहर वालों से नहीं अपने निरीक्षण से आपको पता चलेगा और काला अंतर में आप देख सकेंगे कि हमने अपनी बुराई का कितना विरोध किया तो उसके साथ साथ दंड जब कोई संकल्प लेके चलते तो स्वतः दंड लेते हैं प्राश्चित करते हैं प्राश्चित के माध्यम से व्यक्ति अपनी बुराई को बड़ी सावधानी से देखता स्वतः देखता है कि यदि मुझसे दोष हो गया तो स्वतः दंड लेना पड़ेगा अपने से बच नहीं सकता व्यक्ति स्वयं दंड लेना पड़ेगा संसार के अंदर सुधार की बात चलती है इकाई से जब एक व्यक्ति स्वयं अपने आप को नहीं बनाता तो वो व्यक्ति आगे चल के परिवार को नहीं बना पाता आगे चल के समाज का ढांचा भी उससे बिगड़ेगा देश का बिगड़ेगा और विश्व का बिगड़ेगा इसलिए हम मोटा सा विभाग जब बनाते हैं तो एक विभाग बनता है व्यक्तिगत जीवन कितना ऊंचा होगा पहले व्यक्तिगत जीवन का निर्माण और उसके पीछे परिवार का निर्माण उसके पीछे समाज का निर्माण उसके लिए राष्ट्र का बड़े क्षेत्र का निर्माण और फिर विश्व का निर्माण तो आप पांचों क्षेत्रों में सोचना व्यक्तिगत जीवन के लिए क्या क्या संकल्प हमको लेने चाहिए एक बात परिवार में बच्चों को बालकों को बालिकाओं को महान बनाने के लिए उस परिवार को ऊंचा उठाने के लिए हमको क्या क्या संकल्प लेने चाहिए आप ध्यान दोगे क्या आपके बच्चे संध्या करते हैं दोनों समय या करवाते हैं आप बताओ आज खड़ा करो कोई कोई होगा आप में से अब कितने लोग न वो संध्या बच्चों से करवाते न उनके ऊपर कोई अनुशासन है कुछ नहीं न उठाने का नियम है न व्यायाम करवाने का नियम है न यज्ञ में बैठाने का नियम है न आर्य समाज में जाने का नियम है न नमस्ते करवाने का नियम है ये सारे बालक बालिका बिल्कुल बेकार हो गए कहा अपने परिवार के लिए कहां संकल्प लिया आपने परिवार को ऊंचा बनाना परिवार को अच्छा बना के खड़ा करना ये संकल्प आप नहीं ले सकते तो परिवार को अच्छा नहीं बना सकते आप जब परिवार को अच्छा नहीं बनाएंगे तो ध्यान देना ये पीढ़ियां जो चल रही हैं हमने देखा ये तीसरी पीढ़ी है कल्पना कीजिए इसके जो दादा थे पिता के जो पिता वो बहुत श्रद्धालु थे नियम से चलते थे नियम से संज्ञा करते थे नियम से हवन करते थे आर्य समाज में नियम से जाते थे पूरा दान देते थे आई दूसरी पीढ़ी उसमें आधा पौना कट गया और कुछ रह गया दूसरी पीढ़ी में आई तीसरी पीढ़ी तीसरी में लगभग समाप्त आर्य समाज की परंपरा परिवारों में अपने परिवार को उस रूप में बनाने के लिए कोई प्रयास नहीं है लोगों का आप अनुभव कर लो है या नहीं ऐसा बोलो सैकड़ों लोगों को देखेंगे आप उसके दादाजी जिस स्थिति में थे बेटा नहीं है बेटे की तीसरी जो आई है पीढ़ी वो बिल्कुल बेकार है क्या हुआ कोई व्यक्ति हजारों में कोई एक परिवार बचा मिलेगा जिसमें तीसरी पीढ़ी कुछ कर रही है परिणाम ध्यान देना आर्यों की परंपरा समाप्त ये जो महर्षि ने अपना जीवन आहूत किया था सब कुछ झोंक दिया था वो इसी परंपरा को आगे ले जाने के लिए ही था कि आर्यावर्त देश में सब कुछ आर्यों की परंपरा में होगा सब राजनीति परिवार और ये आर्य लोगों ने क्या किया प्राय अपने परिवारों में से आर्यपन को ही खत्म कर दिया समाप्त कर दिया कोई ध्यान नहीं कोई प्रयास नहीं अब ये भौतिकवाद की चपेट में आ गया व्यक्ति हाय धन हाय संपत्ति हाय मान फलाना इसमें लगा हुआ है तो परिवार की ओर देखो और संकल्प लो परिवार को आप बच्चों को आर्य नहीं बनाएंगे वैदिक धर्मी नहीं बनाएंगे तो आने वाले समय में आने वाली जो पीढ़ी है उसमें ये स्थिति बिगड़ती बिगड़ती बहुत दूर तक चली जाएगी और आने वाले आर्य समाज के काम को गुरुकुल शिक्षा प्रणाली को और बड़े बड़े वेदों के प्रचार आदि कार्य को साहित्य प्रकाशन के काम और जो भी संगठित होकर के हम काम करते हैं किसी भी स्तर पर उनका होना बंद हो जाएगा आपने कभी ध्यान दिया भारत देश की क्या स्थिति है ध्यान दे के देखो भारत की स्थिति ऐसी है कि यदि हम संगठित नहीं हुए हमने बलिदान नहीं दिया हम मिलके नहीं चले तो ये भारत देश पुनः परतंत्र दाश गुलाम बन जाएगा ये स्थिति उत्पन्न हो गई है योजनाएं बड़ी लंबी चौड़ी चलती है हम उसको जानते तक नहीं करोड़ों लोग भारत में रहने वाले ये योजना बना के दिन रात चल रहे हैं कि भारत देश ये हमारा देश होगा हमारा राज्य होगा और हम जितनी भी वैदिक परंपराएं हैं उनको सबको समाप्त कर देंगे करोड़ों लोगों की योजना एक बनी हुई है और वो तैयारी नहीं कर पूरी तैयारी हो रही अपने जो लोग हैं हम जो है जो हम अपने को भारतीय मानते हैं उनकी और क्या हुआ कुछ लोगों में ध्यान है प्राय कोई योजना नहीं है कोई ऐसा संगठन नहीं है कोई ऐसा बलिदान की ऐसी भावना नहीं है और वो अपने अपने काम में जैसे लगे हुए हों इस रूप में लगे हुए दिल्ली में लकड़ी का काम करने वाले मजदूर लोग होते हैं वो काम करते रहते दिन में लकड़ी का काम किवाड़ नमारी आदि आदि एक दिन ये व्यक्ति ने बताया उनकी सभा होती है सायकाल अच्छा क्या विचारते हैं वो उन्होंने कहा एक दिन हमने सुना गुप्त रूप में वो जैसे योजना कहेंगे अब की बार जो हमारा जो राज्य होगा हमारा राज्य की स्थापना करेंगे हमारी राजधानी लखनऊ होगी लकड़ी का काम करने वाले व्यक्ति सोचते और भारत के जो अपने को भारतीय कहते हैं उनको ये कोई पता नहीं कि क्या चीजें चल रही है नीचे नीचे और हम कहां बैठे एक तो राजनीति दल के रूप में और एक अपने कॉलेजों में अपनी परंपरा की पुस्तकें पढ़ाते हैं उनको सहायता मिलती है सरकार की उसे कोई प्रतिबंध नहीं आश्चर्य की बात आप क्या देखते हैं आप इतने भयंकर ये व्यक्ति इतने दोषी हैं इनका कोई अधिकार नहीं है कि भारतीयों के नेता बनकर के लोकसभा भवन में जाए ये स्थिति देश के प्रति इन लोगों की राजनीति वालों की और इनकी राजनीति यदि चलती रही तो ये भारत को बिल्कुल समाप्त करवा के रख देंगे और ये फिर गुलाम बनेंगे और गुलाम ही नहीं बनेंगे या जिनको मार डाला जाएगा या दास बन के रहेंगे औरों की ये हालत करेंगे ये लोग ये राजनीति के क्षेत्र में फिर चलिए संप्रदायों के उसमें हम कितना ध्यान देते हैं संप्रदायों के नाम से जो तैयारियां चल रही हैं एक विद्यालय है देवबंद उत्तर प्रदेश में और उस केवल एक विद्यालय में बड़े भारी योग जैसे कि मैंने सुना एक विद्वान वहां गए उन्होंने उसको देखा बताया तीस हजार युवक पुराण के विद्वान बनाए जा रहे हैं और सारी व्यवस्था खर्चे की संप्रदाय वाले करते ये केवल एक विद्यालय की बात सुना रहा युवकों को तैयार किया जा रहा देश विदेश के लिए देश विदेश में अपना जीवन लगाएंगे और वो अपने संप्रदाय का प्रचार करेंगे एक की बात नहीं ये तो केवल संकेत मात्र है एक संप्रदाय के नहीं दो के नहीं बड़े से बड़े करोड़ों के संप्रदाय हैं और उनमें सभी में यही हो रहा है और ये संप्रदाय बढ़ते बढ़ते कहां चले गए बचे हुए को क्या किया बचे हुए को किसी को ब्रह्मा कुमारी बना के खड़ा कर दिया वो ब्रह्मा कुमारी में बट गए किसी को रजनीश के पीछे लगा दिया वो रजनीश में बट गए किसी को महेश में लगा दिया हिंदुओं का जो वर्ग है उनको इन्होंने नए नए मत लगा लगा के जमा के और हिंदुओं को बांट दिया इन और मतों में हिंदू ऐसे समाप्त हुए वो बढ़ते जाते हैं ये हिंदू नाम के आर्य नाम के लोग थोड़े से बढ़ते जाते ब्रह्मा कुमारी हो गए लाखों फिर रजेश के हो गए लाखों फिर महेश के हो गए करोड़ों आप देखते जाएंगे तमाशा कैसे हो रहा है संप्रदाय जो है ये कैसे वेद के विरोधी तत्व आ रहे हैं वेद को समाप्त करने की योजना वेद की बात और ऋषियों की बात किसी संप्रदाय को स्वीकार नहीं है ऋषियों की बात वेदों की बात वैदिक संस्कृति की बात ये जो परंपरा है विशुद्ध इसको बिल्कुल खत्म कर देने की योजना समुदाय की है इनकी सबकी आपका कोई बेटा बेटी तैयार होती है तो आप लठ लेके पीछे पड़ जाते हो हाय मेरा बेटा गया हाय मेरी बेटी गई कितना पागलपन है मां मूर्खता की बात मैं तो क्षत्रिय बनकर करके राजनीति में आगे दुष्टों का विनाश करने के लिए अपना बेटा देने के लिए तैयार मैं ब्राह्मण बनकर के अज्ञान का और इनका सारे संप्रदायों का नाश करने वाला कोई महान ऋषि पैदा करने के की उसके दिमाग में कोई बात ही नहीं है बलिदान की भावना समाप्त है आश्चर्य की बात है सत्य वैज्ञानिक विशुद्ध धर्म विशुद्ध मार्ग हमारे पास में है और तब हमारी हालत इतनी भयंकर है बस पूछो मानी सच्चाई को पिटने देना सच्चाई को कुचला जा रहा है सच्चाई को मिटाया जा रहा है और हम बैठे बैठे देखते हैं ये क्या जीवन है संकल्प लेके चलो और सोचो जिस ईश्वर ने सृष्टि बनाई अनादिकाल से सृष्टि बनाता और अनादि अनंत काल तक बनाता रहेगा हम केवल ईश्वर के आदेश का पालन करेंगे घर वाले नाराज हो राजी हम इसमें सहमत बिल्कुल नहीं चाहे परिवार वाले हमारे पीछे लगे चाहे कुछ भी हो जाए हम तो इस बात को मान के चल, चलेंगे हम चाहे बिल्कुल हमारे मित्र विरोध करें घर वाले विरोध करें हम किसी के साथ संधि करने के लिए तैयार नहीं हमारा जीवन ऐसा होना चाहिए लोगों ने कहा हमको भी लोगों ने बहुत कहा कि आप क्या करते जा रहे हैं सब कुछ छोड़ दिया घर की भयंकर अवस्था आपके बूढ़े माता पिता को कौन खिलाए पिलाएगा पता नहीं कितनी बातें कही सुनी और हम देख रहे हैं ये देश कितना भयंकर अवस्था में जा रहा है माता पिता को मान लो दो चार रोटी हम दे देंगे और कच्चे बच्चे पैदा कर देंगे वो अच्छा है या अपने जीवन को देश के लिए लगाना अच्छा है हमने कहा किसी की बात नहीं सुनेंगे आप सच्चाई के ऊपर चलेंगे माता पिता देश के अंतर्गत है माता पिता एक छोटा सा टुकड़ा है और ये लाखों माता पिता मर रहे हैं इनके लिए हम दो माता पिता को रोटी दे करके सबको ठोकर मार रहे हैं ये ईश्वर की आज्ञा के विरुद्ध है इसका इसमें तात्पर्य नहीं है आप परिवार का पालन न करें परिवार का पालन कीजिए यथाशक्ति बच्चों को आगे बढ़ाइए पर ध्यान देना केवल बच्चे आपके लिए हैं केवल उनकी कमाई आपको मिलेगी केवल आपको रोटी देंगे ये बे, बेकार की बातें सारी भावना ये आएगी सब बच्चों को हम तैयार करते हैं परंतु एक हमारा बेटा बेटी तो कम से कम देश के लिए ही अर्पित करने का विचार करेंगे संकल्पों से यह होता और बदल दो इस अंध परंपरा को ये स्वार्थ की भावना भौतिकवादियों की है भोगवादियों की है बिल्कुल ऋषि नहीं मानते इस बात को बिल्कुल महर्षि धान के जीवन को देखो कैसी स्थिति थी सब कुछ था सारी बातें थी माता पिता भयंकर दुखी थी कितने दुखी थे उनके दुख की सीमा कैसे मापोगे आप कोई कहेगा कि रोटी कपड़े की तो कमी नहीं थी मैंने कहा रोटी कपड़े का दुख नहीं जिसका बेटा सन्यासी बन रहा हो और वो बिल्कुल नहीं चाहता हो और एकदम वो विवाह के इस काल में भाग जाए तो उस दुख को देखो रोटी कपड़े की चिंता कुछ नहीं स्वामी दयानंद सरस्वती जी के अंदर एक बात देखी उस समय भी वो बात थी वो जब आगे बढ़ रहे थे योग के मार्ग पर उसके दिमाग में ये बात मैंने देखी वो देश को देखते चले जा रहे थे कि देश का उत्थान कैसे करें यदि घर के काम में लग जाते हैं तो देश कहां जाए परोपकार का काम नहीं छोड़ा जा सकता तो दिमाग को आप ऐसे बैठा रहना कोई जीवन नहीं है बेकार का जीवन है जीवान होता है व्यक्ति वो कहता जी अब विवाह की सोचो विवाह पर विवाह विवाह पर विवाह विवाह पर विवाह भाई विवाह करते करते कहां पर पहुंच गई है चार पांच बच्चे पैदा कर दिए वो सारे खराब चार पांच उसने कर दिए वो खराब अब लाखों कर दिए बताओ इन बच्चों को क्या करोगे पैदा करके वृद्ध अवस्था में स्थिति यह है कि पांच पांच बेटे छह छह बेटे और वो पढ़ाए लिखाए हो तो भी उनमत प्राय एक भी बेटा ऐसा नहीं श्रद्धापूर्वक माता पिता को रोटी कपड़ा मकान दे दे अब क्या करोगे इनको पैदा करके यदि आप ठीक ग्रेस के नियमों का पालन करते हैं तो याद रखिए ये स्थिति बदलनी पड़ेगी आपको पर इस बात को दिमाग से निकाल दीजिए कि मैं जो कमाई करता हूं धन संपत्ति इकट्ठी करता हूं और इनको तैयार कर रहा हूं आने वाली पीढ़ी अगली तीसरी पीढ़ी खूब खाएगी आनंद से रहेगी और उनको कोई असुविधा नहीं होगी ऐसा नहीं है ऐसा कभी होता भी नहीं इस अवस्था में आज जो हमारी स्थिति है हम जो चल रहे इसी प्रगति को देखते हुए आपको पीछे की ओर क्या लगा हुआ है आपका धन संपत्ति इकट्ठी की हुई दुष्ट लोग छीन के ले जाएंगे आज भी छीनी जा रही है एक व्यक्ति ने कहा भाई कुछ दान कर और उस व्यक्ति ने दान ही नहीं किया माना ही कहने वाला व्यक्ति दानी था उसका संबंध ही था दिल्ली की घटना है कालांतर में परिणाम छापा पड़ा दस लाख खत्म ये स्थिति बनती है कहीं तो सरकार की ओर से खत्म और कहीं गोली वाली की ओर से खत्म जट दे देता उसको दस लाख रुपए निकाल इतनी देर लगती है उस धन को व्यक्ति राष्ट्र के लिए लगाने के लिए तैयार नहीं है छिड़ जाएगा गल जाएगा पर देश के लिए वो देने के लिए तैयार नहीं इतनी कुप्रवृत्ति व्यक्ति की हो गई है बंबई जैसे नगरों में वो माया नगरी देखो जाके एक भवन पर दस करोड़ रुपया ये शायद कम पड़ेगा ऐसे ऐसे भवन निर्माण है वहां निर्मित है दस दस करोड़ एक एक भवन पर लगता जा रहा है ईंट पर ईंट ईंट पर ईंट ईंट पर ईंट कहीं भूकंप आ गया तो क्या होगा वो दबके मर जाएंगे और कुछ नहीं होगा आप भी अपनी तसली कर लेना दो बार भूकंप आया महाराष्ट्र में आया है सुना है ना हाँ आपको भी छोड़ने वाला नहीं है किसी ने कहा ये भूकंप क्यों आ रहे हैं कहते दुष्ट लोग इकट्ठे हो गए इनको खत्म करेंगे <laughs> हाँ ये ये कहीं भूकंप और कहीं आतंकवाद और कहीं युद्ध ये छोड़ेगा नहीं जो करना हो सो भावना बदलती है और कोई व्यक्ति आप मुझे कहेगा जी आज तो मैंने रात को भी शुभ मनाया और मैंने निश्चय कर लिया सारा सब कुछ देश के लिए दूंगा <laughs> क्या हो गया हो गया क्या मैं समझ दिया भूकंप पता नहीं कब आ गया इंद्रम तो मंत्र के भाव हैं धर्म से मार्गदर्शक लोग आ गया दूसरा ये तो व्यापार का रूप था संप्रदायों का जो खर्च आपने देखा हो एक एक संप्रदाय के भवन और आश्रमों में जो धन है अरबों रुपए का त्रिपुति के ऊपर जाके सोना देखा हो पहले जो सूचना निकली थी एक दिन की आय पौने चार लाख थी अब का मुझे पता नहीं लगभग एक दिन की आय अरबों रुपये की ये आय होती जाती है और धन इकट्ठा होता जाता देश के युवकों को तैयार करना देश जाति को बचाना अपनी शक्ति को इकट्ठा करना संगठित होना इसमें कोई पैसा खर्च नहीं है अपने अपने काम में वो लगे हुए हैं वहां संप्रदाय के साथ में लुटेरे लोग वो जो पुजारी जिनको बोलते खाते हैं दुनिया भर के उल्टे काम करते हैं कोई उनको अच्छा उपदेश नहीं देते उनको पैकाते रहते तो वैसा कर दो ऐसा हो जाएगा ऐसा कर दो ऐसा एक व्यक्ति की ऐसे मूर्ति बना रखी क्यों जी नींद तो नहीं आने लगी बता देना है क्यों जी नींद तो नहीं आ रही तो वो मूर्ति बनाई फिर उसके ऊपर एक छत बनाई फिर उसके ऊपर बिजली लगाई फिर उसको पंखा लगाया भले व्यक्ति इस पत्थर को पंखा लगाना और पत्थर पर इतना वो ऊपर छत लगाना ये जो है लाखों लोग बेचारे गरीब भूखे ईसाई बने रहे उड़ीसा में जाके देखो हम जाते हैं उड़ीसा की ओर कितनी भयंकर अवस्था भूखे मरते हैं उनको रोटी कपड़ा मकान देते हैं चिकित्सा करते हैं ईसाई लोग और उनके घरों में रहते हैं बारह बारह वर्ष खपा देते हैं अपने लोग कहां खपाते हैं कहां आप आप यहां आने के लिए तैयार नहीं भाई हमारे पास कार्यकर्ताओं की कमी है आप मुझे एक भी आगे हम नहीं दिखाएगा वो आदत ही नहीं बलिदान देने की अपने काम के लिए बलिदान की कोई भावना नहीं है और इन लोगों में चाहे राजनीति भले ही नीचे हो वो जीवन खपा लेते हैं अपना और खपा करके अपने प्रयोजन सिद्ध करते लाखों लोगों को भोजन कपड़ा मकान चिकित्सा विवाह करवा करवा करके ईसाई बनाया जा रहा है और वो नागालैंड जैसा बताते बिल्कुल काट दिया हो जैसे स्वतंत्र एक देश बना झगड़ा कर दिया ध्यान दो हम यदि ध्यान नहीं देंगे तो भारत की क्या स्थिति होगी ये चीज देखने योग्य नहीं है आप क्या करते हो आप कहेंगे हम गृहस्थ हैं मैं कहूंगा पंडित लेखराम जी को देखो आप गृहस्थ हो तो स्वामी श्रद्धानंद जी को देखो आप गृहस्थ हो तो क्या किया उन्होंने कैसे किया जीवन चरित्र पढ़ के देखो देश के लिए क्या किया उन्होंने अपने जीवन के लिए क्या किया उन महापुरुषों ने उनके जीवन चरित्र को पढ़ के देखो आप वो गृहस्थ थे गृहस्थ होते हुए जो उन्होंने किया वो आप भी कर सकते हैं तो अपने जीवन में इन कामों को हम करें और ये जो स्थिति हमारे सामने है इसमें आप सब प्रकार की योजना अपनी शक्ति के अनुसार करें और फिर ध्यान देना समाज को अपने अपने नगरों में गांवों में जा जा करके उनको संगठित करना उनको मिलाना सारी बातें उनको बताना अपने यहां तो करोड़ों लोगों को पता भी नहीं है कि भारत की अंतर स्थिति क्या है बाहर की स्थिति क्या है कोई पता नहीं पड़ा लोगों को अं, अंदर कितना भयंकर षड्यंत्र है अंदर कितनी तैयारियां हैं अंदर नीचे नीचे और विदेशी लोग इसको हटाने मिटाने के लिए कितनी तैयारी कर रहे हैं इनको कोई पता नहीं चलता लोगों को तो संकल्प लेके चलो और युवकों का कर्तव्य बनता है या तो वो ब्राह्मण बन के खड़े हों ब्राह्मण तो फिर क्षत्रिय बने बचे तो तीसरे नंबर पाते मन में तड़फ क्यों नहीं है असल में ईश्वर से संबंध कट गया व्यक्ति का मूल भूल वहां से हुई है ईश्वर क्या है ईश्वर ने क्यों संसार को बनाया हमारा कर्तव्य क्या है ईश्वर के प्रति ईश्वर क्या चाहता है ये व्यक्ति छोड़ बैठा वह दुनिया को देखता है वो खाने पीने को देखता है ये मनुष्य का धर्म नहीं है ईश्वर को देखो वेदों के आदेश को देखो ऋषियों को देखो और फिर काम करो माताओं है कुछ हिम्मत अपने बेटा देने की बेटा बेटी देने की नहीं है उनका क्या नाम हो बैठी सबसे पीछे पन्ना पन्ना पन्ना नाम ही पन्ना है या उपनाम है पन्ना नाम तो एक बार इन्होंने संकल्प किया मैं अपने एक पुत्र को विद्वान बनाऊ तो इन्होंने संकल्प किया और अपने पुत्र को गुरुकुल में भेज दिया ऐसे होता है काम और वो गुरुकुल में पढ़ रहे हैं उत्तर प्रदेश में और दूसरा सो गया या कहां है मैंने उससे पूछा कि भाई गुरुकुल में जाना है उन्होंने कहा मैं जाना तो चाहता था मेरी माँ ये कहती है तू यहीं पढ़ <laughs> वो नहीं है वो दूसरा <laughs> वो हां दिखाओ हाँ तो अच्छा फिर मैंने कहा अच्छा आप पढ़ पढ़ा के विद्वान बन के ब्रह्मचारी रह के प्रचार करोगे या शादीवादी करवा करके तुम तो ब्रह्मचारी रह के ही प्रचार करूंगा मैंने कहा फिर गुरुकुल में तो जाना पड़ेगा वहां जाए बिना तो तेरा दूसरा भाई तो बड़ा तगड़ा और विद्वान हो जाएगा तू यहां रह जाएगा चा पी के ऐसे पतला दुबला तो कहेगा मेरी मां ने ऐसा कहा मैंने कहा माँ के ऊपर जोर दो तो मां भी डर गई होगी ये कि दोनों बेटे ने चले जाए कभी हाँ ये दिमाग है उनका डरती है, है कि दोनों बेटे न चले जाए तुम तो भावना बनाओ आपको सोच आपको जो है चिंता करनी पड़ रही होगी भाई ऐसा कर देंगे तो फिर गुजारा कैसे होगा सांस ले रहे होंगे उबर उबर के हाँ ऐसा नहीं है याद रखना ईश्वर की आज्ञा के अनुसार जो व्यक्ति कुछ समर्पित करता है वो कृतकृत्य हो जाता है चिंता का विषय ही नहीं अच्छा हमारे पास में कितने बेटे हैं मेरे पास में कोई बेटा एक भी नहीं है हैं? नहीं है ना नहीं है अच्छा अब देखो मैं मैं जितना बेटे वाले सुखी हूं उनसे अधिक सुखी हूं है तो ये बात है बेटा बेटा मानना ही पड़े आपको कोई मनवाना पड़े तो ये जितने अच्छे अच्छे ब्रह्मचारी ये आपके ही बेटे बस हो गया पूरा काम अच्छा चाहिए बेटा जन्म से कोई बेटा नहीं पात्र चाहिए पात्र आपको मिल ही जाए कि बेटा अपना घर का हो ना हो है अपने घर के बेटे नहीं सुधर रहे हो तो उनको कहो अपना काम करो घर से बाहर निकलो मेरा बेटा और होगा और संपत्ति उसी के लिए दी जाएगी हो तैयार है अब यह मुश्किल पड़ती ये व्यक्ति यहां घबराता है वो अपने थे ना बानपत जी जगदीश मुनि जी वो न नमस्ते करें उसके बेटे ना आर्य समाज में जाए ना हमने करें ना संध्या वो एक दिन बुलाया सबको उनका बेटा सुनो मैं चाहता था आप आर्य समाज के बताए मार्ग पर चले संध्या करना आदि आदि सब आप नहीं करते तो याद रखो ये मेरी जितनी धन संपत्ति है ना यारी समाज के लिए जाएगी गुरुकुल के लिए जाएगी तुम एक पैसा नहीं मिलना बोलो क्या कर कि पिताजी नमस्ते भी करेंगे भी करेंगे आर्य समाज में भी जाएंगे सब काम भाई जो व्यक्ति हमारा जो है धन का जो है अधिकारी नहीं है उसको क्यों हमें अधिकारी बनाए हम तो बिल्कुल नहीं बनाएंगे यदि हाँ, हमारे अनुरूप है वैदिक हमारे पर चलता है तो उसको धन संपत्ति दो अधिकारी है वो पर वो जो हमारे अनुरूप नहीं है वैदिक रीति से नहीं चलता तो वो एक पैसे का भी अधिकारी देने का नहीं है तो देखो अपने जीवन को महान बनाने के लिए संकल्प करो फिर परिवार को अच्छा बनाने के लिए फिर देश को समाज को और इस विश्व को आगे बनाने की कोशिश करो देखो कितना आनंद आता है करके तो देखो कम से कम पांच वर्ष दस वर्ष करके देख लो यदि फिर आपको हानि हो जाए तो मुझे उलाना देना होगा आप सोच सकते हैं कि पांच वर्ष में तो दिवालिया निकल जाएगा फिर क्या सोचना है <laughs> तो मैंने ये बातें इस रूप में सुनाई कि हमारी योजना हमारे जो है संकल्प हमारे कार्य अपने देश समाज के प्रति किस रूप में हो सुनना सुनाना पढ़ना पढ़ाना हमारा सफल होगा हम संगठित होके संकल्प लेकर के पूरा जोर लगाएंगे अपना जीवन बदलेगा परिवर्तित होगा परिवार पर, परिवारों में परिवर्तन होगा समाज में परिवर्तन होगा देश और विश्व में परिवर्तन होगा शक्ति बहुत है व्यक्ति के पास ये जो मनुष्य शरीर है इसमें इतनी योग्यता दी है परमात्मा ने इतने उपकरण हैं इतने साधन हैं ये व्यक्ति एक व्यक्ति कितना दूसरों से सहयोग प्राप्त करता हुआ वो महान बन जाता है माता पिता गुरु विद्वान ऋषियों के ग्रंथ वेद ईश्वर शक्ति इन सबसे ये व्यक्ति शक्ति का संग्रह करता है बुद्धिमान व्यक्ति और वही व्यक्ति पुरुषार्थ करता हुआ इतनी ही स्रोतों से शक्ति को लेकर महान बन जाता और जो आलसी प्रमादी व्यक्ति है वो अपने अंदर जो शक्ति है उसको भी खो बैठता ये तो सोचने का ढंग है निष्काम कर्म की भावना जागृत करो और योगाभ्यास सीखने वाला व्यक्ति योग को सीखने वाला व्यक्ति जो है इन बातों को धरती पर उतारता है वो निष्काम कर्मी बनता है निष्काम भावना से उसके विचार उभरते हैं आगे और योगाभ्यास न करने वाला व्यक्ति भौतिकवाद की ओर सरकता है और भौतिकवाद में खाओ पियो मुझे करो ये विचारधारा आती है इसलिए योग को जीवन के साथ जोड़ते हुए जब चलते हैं तो त्याग की भावना परोपकार की भावना निष्काम कर्म की भावना ये चीजें उभरती जाती है और हमारा संबंध ईश्वर से जुड़ता जाता है इसलिए हम इन विषयों पर विचार करें अपना आर्यवन विकास की योजनाएं आर्यवन विकास में जो कार्य हुआ है हो रहा है इसकी ओर भी विशेष ध्यान देना आप ये एक बहुत ऊंचे स्तर का काम है और हमारी दृष्टि से यदि सुना जाए तो विश्व में अद्वितीय है मानव निर्माण का कार्य जहां तक हमारी दृष्टि जाती है हम देख पाते हैं सारे भूगोल में मानव निर्माण का आदर्श मानव निर्माण का वैदिक मानव निर्माण का वैदिक विद्या को पढ़ाने सिखाने का ये केंद्र ये जो इस समय है ऐसा और कोई केंद्र सामने नहीं आया हमारी योजना बड़ी लंबी चौड़ी है उनमें हम चाहते हैं इस विद्यालय की भांति अपने देश में दस बारह इसी प्रकार के अलग अलग प्रांतों में ऐसे ही विद्यालय हों भले ही उनमें केवल दस दस ब्रह्मचारी हों और दस दस ब्रह्मचारी उन उन विद्यालयों में इसी रूप में तैयार हम करते जाए तो ये शक्ति वो शक्ति है जो विद्वानों से टकराती है यह शक्ति वो शक्ति है जो संप्रदायों के विद्वानों से टकराती है यह शक्ति वो शक्ति है जो शास्त्रार्थ करने में समर्थ होती है यह शक्ति वो शक्ति है जो राजाओं के दिमाग को बदलती है जो उच्च कोटि के विद्वान योगाभ्यासी होते हैं वो एक एक इतनी शक्ति रखते हैं वो हजारों लोगों का दिमाग बदल के रख देते हैं ये शक्ति वो है विचारधाराएं टकराती हैं भोगवाद की योगवाद की वैदिक और अवैदिक उनसे टकराने वाले दिग्गज विद्वान होते हैं साधारण विद्वान की कोई बात नहीं सुनेगा और इसके ऊपर सबसे अधिक जोर लगाना चाहिए ये तो पुरुषों की बात है माताओं की भी ऐसे ही विद्यालय हो जैसा ये एक विद्यालय है प्रौढ़ों का प्रौढ़ों का इसी प्रकार से तैयार हम पहले तैयार की जाए और वो अपने स्तर पर इस रूप में निकले तो एक भाग है और अनेक ऐसे ऐसे भाग हैं उन हम इस रूप में जो है काम करें तो आप इस विषय में क्या सहयोग दे सकते हैं या दिला सकते हैं वो सारा करना बहुत कार्य है इसमें युवकों को अच्छे युवकों को प्रेरणा दे दे के इस मार्ग पर भेजते हैं लोग वो एक काम है प्रेरणा देने से हम बीस को देते हैं उनमें बीस में से दो तीन तो तैयार हो जाएंगे पंद्रह भले ही निकल जाए अब जब प्रेरणा ही नहीं है युवकों को प्रेरणा नहीं दी जाती प्रेरणा दिए बिना जो युवक जो है इस काम करने इस काम को करने के लिए नहीं आगे आए क्या कारण है कि गुजरात में युवक कम आते हैं या प्रेरणा नहीं है कम है और उस ओर दिल्ली हरियाणा राजस्थान उत्तर प्रदेश इस ओर युवक अधिक उभर के आते हैं वहां प्रेरणा प्रेरणा दी जाती है संस्थाएं प्रचार होता है और दक्षिण भारत में चलो प्रेरणाएं नहीं है बहुत कम प्राय युवक नहीं आएंगे हम विद्वान बनेंगे ब्रह्मचारी रहेंगे देश के लिए जीवन खपेगा प्रेरणा नहीं प्रेरणा न होने से इतने बड़े प्रांतों में एक एक युवक भी आने के लिए दिया ये प्रेरणा देना प्रेरणा दे दे करके उनको आगे बढ़ाना और माताओं की प्रेरणा तो बहुत महत्वपूर्ण होती है मां का जब हृदय मांग करता है कि मेरे देश के लिए या विश्व के लिए मेरा बेटा बेटी तैयार हो और यदि वो बच्चे को प्रेरणा देती तो बच्चा तैयार हो जाता सब से ही बहुत तैयार हो जाएंगे सारे एक जैसे नहीं होते और मां चाहती ही नहीं मेरा बेटा देश के लिए अर्पित हो जाए बेटा कहिए मां से प्रेरणा नहीं है पिता से प्रेरणा नहीं है गुरु से प्रेरणा नहीं है राजा से प्रेरणा नहीं है संबंधी से प्रेरणा नहीं है जिसका लड़का युवक कॉलेज में पढ़ के आता है और एम बी बी ए होकर के कहता मैं गुरुकुल में पढ़ूंगा मैं दर्शन शास्त्र पढ़ूंगा योगाभ्यास करूंगा घर वाले और पड़ोसी उसके पीछे पड़ जाते हैं और उसको जीने तक नहीं देते ज्ञानेश्वर जी जब घर छोड़ा सिंह प्रभु गुरुकुल में मिले मैंने को कालवा गुरुकुल भेजा कालांतर में बड़ी लंबी कथा है इनके माता पिता पहुंचे गुरुकुल कालवा में <laughs> कहने लगे हम इसको लेके जाएंगे और जो कुछ करना था वो कर, करते रहे जो कुछ एडी से चोटी तक छोड़ेंगे नहीं और मेरे प्रति क्या भावना थी आप जान लो क्या होगी मेरे प्रति दांत पीसते थे और सोचते होंगे कम मरे ये व्यक्ति जिससे हमारा ये ये भावनाएं हमने देखी लोगों में जिस देश में इतना उल्टा दिमाग हो देश जीत कैसे जाएगा देश के लिए सब कुछ सौंप दिया देश के लिए विश्व के लिए सब ईश्वर का मान के दे दिया हो उसको देना चाहिए उसको प्रोत्साहित करना चाहिए उसको सब प्रति सहायता और यहां जो देश जाति विश्व के लिए अर्पित करता उसके शत्रु बनना उसको मिटा देना मिटाने की योजना बनाना बताओ ऐसा देश भी होता है कोई जिस किसी ब्रह्मचारी को हम लाते हैं प्रेरणा देके बस वो धमकी देता है कि तैयार हो जाओ गोली का निशाना बना दूंगा हमारे बेटे को कहां बैठाया ये स्थिति हमारे साथ होती है तो आपकी तरह हम डरने वाले नहीं आप तो बेटे से डर जाओगे धमकाया बेटे मेरे वहीं रोने लग जाओगे हम नहीं डरते किसी से ईश्वर का आदेश जो है हमारे लिए सर्वोपरि है मरना जीना रोज होता रहेगा होगा ये आगे होगा फिर फिर जन्म लेके फिर फिर जन्म लेके फिर वही काम कर रहा है हम तो अटना तो है ही नहीं अटके जाएंगे कहा बताओ कहां जाओगे कहा जाओगे हटोगे हाँ, तो भेड़ बकरी बनोगे आगे बढ़ोगे तो महापुरुष बनोगे अब वे, बकरी का दाग उड़ा सूर्य बनना है हटके जाओगे तो वहां आगे जाओगे तो योगी और मोक्ष में जाओगे बताओ कहां जाओगे हम तो कहें हम तो मोक्ष में जाएंगे योगी बनेंगे तो योगी बनाएंगे बेट बकरी नहीं बनना तो मैं आपको सुना रहा हूं ये स्थिति हमारे सामने आती है बड़ी लंबी चौड़ी कथाएं हैं जो हमारे साथ होती रहती पर ये ईश्वर की उपासना योगाभ्यास के आधार पर ईश्वर ने सामर्थ्य दिया है शक्ति दी है सारी समस्याओं का समाधान करते जाते हैं और हम आगे बढ़ते जाते हैं ये कार्य यदि सारे भारत के लोग उचित हमको सहयोग देते कम से कम आर्य समाज के लोग बहुत कम है हमको सहयोग देने वाले वो भी यदि अच्छा सहयोग देते तो ये काम अब तक विश्व स्तर पर बहुत ऊंचा जा जाता हमारा हजारों योग तैयार होने की स्थिति में पहुंच जाती यदि हमको उचित सहायता मिलती तो विरोध होता है सहायता कम मिलती है ये स्थिति है क्योंकि स्वार्थी लोग राजनीति का दिमाग वो सारा दिमाग बिल्कुल विकृत दिमाग है परोपकार की भावना को लेकर जो व्यक्ति आगे बढ़ता है उसका स्वार्थी लोग विरोध करते ऋषि ने यही बात लिखी सर्वहित को सामने रखे जो व्यक्ति चलता है स्वार्थी लोग सर्वदा उसका विरोध करते तो मैंने ये बातें आपको सुनाई और आप सुनो और सोचो समझो और अपने जीवन को ऐसा बनाओ अपने जीवन को बनाते हुए फिर दूसरों को बनाओ ये जीना है ये क्या जीना है रोटी कपड़ा और मकान मांग रहा है हिंदुस्तान ये इनकी ओर रोटी कपड़ा और मकान मांग रहा है हिंदुस्तान वैसे ये गधे घोड़े का भोजन मांग रहा है हिंदुस्तान बेकार के लोग तो ये जो बातें हैं आपको सब प्रकार से सुनाते देखो प्रेरणा उनमें दृष्टांत दिए जाते हैं और किसी न किसी प्रकार तो व्यक्ति को प्रेरणा तो देंगे ही है जी किसी के अंदर जोश पैदा करके दो किसी के अंदर हम्म? प्रेम से दो तो कोई न कोई भावना तो आपके अंदर पहुंच जाएगी या नहीं पहुंचने दोगे आप ऐसा मत कर देना आज स्वामी जी कुछ दूसरी बातों को ले बैठे मैं अंदर नहीं आने दूंगा इनको सारा बिगड़ जाएगा <laughs> हाँ <laughs> तो वो जो है प्रेरणा लेनी होती है और भाव है व्यक्ति सुनता जाता है और वैसे सुन करके उसका दिमाग बदलता है मैंने घटना पड़ी थी एक बार उसका भाव सुनाता हूं अंग्रेजों का राज्य था और ये अंग्रेज जो थे बड़े भयंकर अत्याचार करते थे जो युवक और बड़े बड़े वैज्ञानिक और बड़े बड़े क्रांतिकारी होते थे उनको पकड़ पकड़ के तोप के गोले के सामने रखे उड़ाते थे अंग्रेज तो उसका भाव मैंने पढ़ा अब याद है एक बूढ़ा व्यक्ति था उसका नाम आज मुझे कुछ याद नहीं है कहीं लेख पढ़ा था मैंने वो जिस समय वो अंग्रेज लोग भारतीयों को तोप के गोले के सामने सबके सामने उड़ाते थे वो घटना देखने गया बूढ़ा व्यक्ति भारतीयों को तोप के गोले के सामने रख के मारते थे अंग्रेज वो बूढ़ा व्यक्ति उस घटना को देख के देखने के लिए गया और एक छह वर्ष का लगभग बालक उसके साथ था उस बालक ने पूछा दादाजी ये क्या हो रहा है कहां जा रहे हैं पर उसमें था कि बूढ़ा बेचारा रो पड़ा और उस बालक को कहने लगा बेटा अच्छे अच्छे महापुरुषों को ये दुष्ट लोग अंग्रेज तोप के गोले के सामने मार रहे हैं बताया गया कि उस बच्चे पर संस्कार पड़ा वो क्रांतिकारी बना और अंग्रेजों का उसने सरता विरोध किया ये प्रेरणाएं होती हैं कोई भी व्यक्ति एक बात को अंदर ले लेता है वो जीवन बदलती चली जाती है हमने एक कथा सुनी छज्जूराम भगत की वो छज्जूराम भगत की एक ही वाक्य से जीवन कैसे बदलता रहा वो राम भगत के नाम से लाहौर में प्रसिद्ध हुआ वो व्यक्ति दुकानदार कोई करता था और अपने बही खाता लेके प्रातः काल जाता था अच्छे कपड़े पहन रहे थे बही खाता लेके आगे बढ़ रहा था और हो सकता है वो ओम ओम करता था या राम राम अपना भी जब करता था कोई और झाड़ू ले हुए टोकरी ले हुए गंदा पात्र ले मैं करानी आई उस बहन के जो गंदे कपड़े गंदा पात्र गंदा झाड़ू भीड़ी गली होगी सेठ जी दुकान की ओर बढ़ रहे थे और सेठ जी को कहने लगी वो बहन सेठ जी एक तरफ हो जाओ सेठ जी ने दो अर्थ हो सकते थे एक तरफ हो जाने की क्या मेरी टोकरी गंदी पात्र गंदा झाड़ू गंदा कपड़े गंदे सेठ जी बड़े शुद्ध पवित्र हैं एक और हो जाओ कभी गंदा न लग जाए और सेठ जी ने क्या अर्थ किया वो जन्म ग्राहकों को लूटता था ठगता था और एक और ओम ओम राम राम करता था शेष जी ने सोचा ये ये कहती है तू या तो भगवान की भक्ति कर ले भले लड़की या तो दुनिया को लूट ले एक तरफ तो हो जा तो सज्जू राम जी के हृदय में चुप गई ये बात भाई तू एक तरफ हो जा कम से कम <laughs> एक तरफ हो जाओ उसने अर्थ ये किया कि ये कहती है या तो तुम भक्ति कर ले भले व्यक्ति या दुनिया को लूट ले उस दिन के पश्चात कहने का जो कुछ है सारे को दांत मार दी और सारी ठगी छोड़ दार रही सज्जू राम भगत से प्रसिद्ध हो गया व्यक्ति एक ही वाक्य ने बदल दिया एक तरफ हो जाओ एक पुराने समय में भजन सुनते थे वो कौन सी भाषा में था आपको भाषा भी कम समझ में आई हमको तो भाषा वहां की याद है ए? कैसी थी बड़ी भाषा बोलते कैसे बोलते थे वो लोग हैं चुप जाती है हाँ बोलू उस भाषा में मुझे कुछ संस्कृत तो होता कोई तो <laughs> क्या भाषा बोलू वो बोलते थे गाते थे भाई चुभ जाती है बात मर्ज के चाहे ना मर्ज के शेल ले जी <laughs> ये करते ये हरियाणी की भाषा में है है? जो वीर है उसको बात ही चल जाती है और जो कायर है उसको भाला भी भाई ये भाव है इसका <laughs> तो हम तो ऐसे सोचते हैं बस हमारा सोचने का ये ढंग आपको ऐसा बना दें यदि आते रहे ना दो चार बार बस फिर क्या सोचो घर वाले तो कुछ और ही सोचेंगे फिर हाँ और कई बार तो प्रतिबंध लगा देंगे कि आर्य वर्ग विकास में नहीं जाना क्योंकि वहां से लोग बिगड़ बिगड़ के आ रहे हैं <laughs> ये अंग्रेजों का राज्य था जो ऐसा सोचते थे हमारे घर में कोई क्रांतिकारी नहीं आ जाए उनको जगह नहीं देते थे और डरते थे बड़ी भयंकर अवस्था थी उस समय कोई निर्णय नहीं देता था उनको कि क्रांतिकारी आ गए तो हमारा सत्यानाश हो जाएगा तो हम तो जी क्रांतिकारी है फिर मारने वाले क्रांतिकारी नहीं है हम क्रांतिकारी है अज्ञान को मारने वाले ज्ञान को आगे बढ़ाने वाले असत्य को हटाने वाले सत्य को आगे ले जाने वाले हम भी क्रांतिकारी हैं और क्रांतिकारी रहेंगे आप क्रांतिकारी आओ और एक पंक्ति में खड़े हो जाओ बस फिर देखो कैसे परिवर्तन नहीं आएगा हम बदलेंगे जग बदलेगा <laughs> ठीक है ना ये सीधी बात है तो समय आज अधिक जानबूझ के लिया गया कि सुनने सुनाने पढ़ने पढ़ाने को सार्थक बनाना हो तो इन विचारधाराओं को सोचो और इसी ढंग से आदि के संकल्प लेके चलो बैठ हम तो इतना शीघ्र परिवर्तन चाहते हैं और शीघ्र परिवर्तन होता है दुनिया एक एक सेकेंड मिनट के हिसाब से चलो और कुछ करके दिखा दो पता नहीं ये जीवन कल है रहेगा या अश्व वो निषदनम वेद ने कहा व्यक्ति सोच तेरा जो जीवन है जिस शरीर में तू रहता है वो पता नहीं कल रहेगा या नहीं ये संदेश दिया अश्व वो निषदनम तेरा जीवन जहां है पता नहीं कल रहेगा नहीं रहेगा जो कुछ करना हो सो करना तो आप विराम देना चाहिए और इनको बातों को सोचना और खूब संकल्प लेके चलो और संकल्प लेके चलते जाओ और ये घबराने की बात नहीं है व्यक्ति गिरता है उठता है फिर संकल्प को दोहराओ फिर चलो फिर दोहराओ फिर चलो फिर दोहराओ फिर चलो रुकना ही नहीं है बैठ अब मंत्र पाठ और कोई सूचना इसमें तो क्या उतारा होगा आप